चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ऐसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है कोई सुबह पाँच बजे नीचे जगाए कोई रात को तीन बजे जा बजट में स्नीक इन करे कोई नेचर से गेस्ट कोई होस्ट होता है पर एक फ्रेंड जरूरी होता है एक घड़ी घड़ी काम आए पर कभी कभी कॉल करे एक कभी कभी काम आए और घड़ी घड़ी कॉल करे गॉसिप का कोई घूमता फिरता सैटेलाइट कोई साथ रहे तो कर दे सब ऑलराइट कोई एफर्टलेस कोई फोर्स होता है लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है चैट रूम फ्रेंड कोई क्लासरूम फ्रेंड कोई बाइक पे रेस वाला रूम रूम फ्रेंड कमीने everybody somebody A to Z किन किन के नाम भेजा रोस्ट होता है पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल हर फ्रेंड जरूरी है यार